सातवां हमारा रब हमारी मुआफ़ी है और हमें मुआफ़ करता है और आप हम पर रहम करते हैं और आप अच्छे हैं